है प्रजा बारे पर काल की वेदा में हम वेद मंत्रों में बतलाई बातों को ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के पश्चात उन पर मनन करें फिर व्यवहार में उतारे कैस्वा स्वा कै यहां ईश्वर का नाम है आप पाठ पढ़ते हैं कसमयी देवाय भविष्य अनेक बार आप पाठ पढ़े कसमयी देवाय भविष्य हमको ये सौभाग्य प्राप्त है कि ऋषियों की परंपरा से हम विद्या पढ़ते पढ़ाते सुनते हैं जो लोग ऋषियों की परंपरा से न पढ़ते न सुनते न सलाते उनको वेदों के विषय में ऐसा ज्ञान नहीं होता संस्कृत भाषा में कह का अर्थ है कौन कह गच्छति इसका क्या अर्थ होगा कौन कह आगछति कह कथयती यहां तो कह का अर्थ कौन है ठीक पर वेद की भाषा में और ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा में जब कह शब्द का प्रयोग आएगा एक प्रकरण में वहां कह का अर्थ कौन नहीं होगा ये जानने की बात वहां कह का अर्थ प्रजापति कह वही प्रजापति ब्राह्मण ग्रंथकारों ने कहा कि कै का अर्थ है प्रजापति और कै का अर्थ है ईश्वर अब जो लोग इस परंपरा में नहीं पढ़ते नहीं पढ़ाते प्राय विदेशी लोग थोड़ी सी भाषा जानते हैं वो और जब नहीं ज्ञान हुआ उनको गलत ज्ञान हुआ अथवा किसी ने किसी ने जानबूझ के कर दिया हो तो जब ये पाठ आया कसमयी देवाय हविषा और ये लोग परंपरा से देवों की पूजा करते आए हैं और इनको विचारों को आज तक ये पता नहीं चला कसमयी देवाय हविषा भी देव में हम किस देव की पूजा करें ये विदेशी लोगों ने कर दिया लोगों का बात बिल्कुल ठीक है ये तो कै का अर्थ है कौन और कसमई का अर्थ हो गया कसमई देवाय इस देव के लिए हम अभी प्रदान करें आर्य लोगों को कुछ पता नहीं दे रहे हैं आहुति आहुति दे रहे हैं और इनको यूं पता नहीं आज तक लाखों वर्षों से कसमई देवाय हमेशा देव हम किस देव की भक्ति करें ये जो जानते नहीं जिनकी परंपरा टूट गई इस वैदिक परंपरा में पढ़े नहीं और विदेशी लोग लाखों लोग यही रट्टा लगा बिहार ये लोग वेद के मानने वाले लोग भटके चले आ रहे हैं कसमई देवा यह विषा विधेम कसमई देवा यह विषा विधेम अब उनका अंध अनुकरण करने वाले भारतीय लकीर के फकीर कहते कि सत्यवचन महाराज बिल्कुल ठीक है आर्यों को यह पता ही नहीं था कि हमारा देव कौन है ऋषियों ने कहा तुम क्या समझते हो कसमई देव आए हरिशाली देव इस आनंद स्वरूप के लिए हम हरिदान करते हैं ये अर्थ है बात क्या समझे आनंद स्वरूप कसमई देव आए हरिशाली देव इस आनंद स्वरूप के लिए हम ये आहुति दे रहे हमको पता क्यों नहीं आप वैदिक परंपरा में सुनते हो पढ़ते हो कुछ दिमाग आपका ठीक काम करता है इनमें भी जो लोग ऋषियों की परंपरा को नहीं सुनते नहीं पढ़ते कुछ नहीं समझते कोई उनका ऐसा ज्ञान नहीं होता कि सिद्धांत की बात कोई छेड़ दे वो समझ लें तो वेद मंत्र में कहा कह वाह कह यहां सुख स्वरूप ईश्वर है कह वाह तुझे जीवात्मा कह और मंगीष मंगी क्या पाठ है मंगिष्ठ मंगिष्ठ का अर्थ है महान मंगिष्ठ और वो महान कहां रहता है मदाना मद कहते हैं आनंद को और लोक में गुजराती में मद कहते हैं महान को और मद उसको भी कहते हैं नहीं समझ भाई मद नशे को मत मध पिए हुए तो मदा नाम मद मदों के बीच में लौकिक आनंद और मुक्ति का आनंद के मध्य में जो भगवान है महान मंगिष्ट और सत्य यहां सत्य का अर्थ है जितने विद्यमान पदार्थ हैं सत्य हैं उन सब में श्रेष्ठ सत्यकार क्या है जीवात्मा भी विद्यमान पदार्थ है प्रकृति भी विद्यमान पदार्थ है प्रकृति से बनी हुई वस्तुएं हजारों विद्यमान हैं इन सभी विद्यमानों में जो सबसे उत्तम है उसका नाम सत्य सत्सु साधु ही सही है सत्सु विद्यमानेशु पदार्थेशु ये समीचीन श्रेष्ठ वो ईश्वर सत्य है इन सारे सत्य विद्यमान पदार्थों में सबसे उत्तम है इसलिए ईश्वर का नाम यहां पर सत्य है मद सत अंधस अंधस नाम अंध नाम है अन्न का अंध नाम है अंध सह पंचमी बनाएंगे तो अंध से बनेगा अंध सर मत सत अन्न के माध्यम से जो जीवात्मा को आनंद देने वाला है कौन ईश्वर मत सत अंधतः अन्न के द्वारा जो आनंद देने वाला है आप तो इसे आप मंत्र भी नहीं बोलते होंगे घरों में जब अन्न खाते हो तो या बोलते हो यहां आकर के तो बुलवा दिया जाता है बोलना पड़ेगा नहीं क्या हुआ कोई एकाध बोलता हो तो एक एक बात याद दिलाती है जब हम अन्न को खाते हैं तो भूख हट जाती है और लौकी की दृष्टि से देखें तो उसमें आनंद आता है उस समय व्यक्ति इस मंत्र के इस भाग को याद करेगा मत सत अंध सह ये भगवान आप हमको अन्न से आनंद देते हो अच्छा भगवान कभी खाता है क्या अच्छा ये भगवान को फिर ये वो वो क्यों चित्र लगाते भगवान खाने लग जाए तो ये सारे पुजारी उस पर चढ़ाना बंद नहीं कहेगा इतना दाना कहेंगे आपको दे जाना भगवान छूट कर देना इनके दिमाग में ये बात है कि भगवान खाता होगा अब भगवान ये चलाने से राजी हो जाता होगा इसमें क्या दोष है ये ईश्वर के स्वरूप को खुद गए जब इनको हम समझाते हैं ईश्वर जो है न खाता है और मैं इनसे राजी हो जाता है आप ईश्वर की पूजा उसकी आज्ञा के पालन के माध्यम से करो आज्ञा का पालन करो समाज का उपकार करो खान पान में शुद्धि रखो समाधि लगाओ समाधि लगाएंगे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे जब ईश्वर प्रसन्न होगा इनके चढ़ाने से और इनमें ये प्रसन्न करने की बात हो रही है बिल्कुल उल्टा सीधा काम चल रहा है जितने लोग हैं परमात्मा के साथ उनका कोई संबंध अब आप दूसरी ओर ध्यान दो जो अन्न से आनंद देता है हम जीवित रहते हैं आप भी आत्मनिरीक्षण कर लेना क्या ईश्वर को हम इतना महत्व नहीं देते या देते हैं बोलिए जितना ईश्वर ने हमको चीजें बना के खिलाई और खिलाता है कल्पना नहीं कर सकता कोई व्यक्ति जितना हमको उसने दिया है और जितना दे रहा है उतना आदर उतना सम्मान हम ईश्वर का नहीं करते ये उनकी बात छोड़ दो अपने आत्मनिरीक्षण को देखो देखो क्या करते घरों में दस बारह बीस काम करेंगे लोग पर कम से कम प्रातः सायकाल ईश्वर की उपासना श्रद्धापूर्वक नहीं करें दूसरी बात देखो एक व्यक्ति लखपति बना फिर करोड़पति बन गया वो लखपति से करोड़पति बनते ही भगवान को बोलते जैसे जैसे धन संपत्ति बढ़ती जाती है वो परमात्मा को ठुकराता है ऐसा नहीं है क्या चाहे वो वेद की बात माननीय वक्त की बात करता हूं प्राय ऐसा देखा जाता है जब वो लखपति था या हजारपति था तो संध्या भी कर लेता था हवन भी कर लेता था संविधा लाता था खरीद के जैसे पैसे और बड़ा श्रद्धालु जब लखपति हुआ तो उसकी श्रद्धा समाप्ति हुई फिर करोड़पति हुआ तो और दिवालिया निकल गया और फिर कहता है मेरे पास में समय नहीं कहा ईश्वर का धन्यवाद करता है ये कहा कि आर मेरे वसु रुज कहते हैं दुख को पीड़ा को तो आर ये वसु जो दुख का विनाशक है जीवात्मा उसके लिए परमात्मा धन संपत्ति देता है वसु कहते हैं धन को संपत्ति जीवात्मा दुख का विनाश है यदि वो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप प्रयास करे तो हम अपने दुख का विनाश कर सकते हैं निश्चित बात और जब हम उचित प्रयास नहीं करते ज्ञान कर्म उपासना को ऊंचा नहीं बनाते तपस्वी नहीं बनते परिश्रम मेहनत नहीं करते उस समय हम अपने दुख का नाश नहीं कर सकते दुख का नाश इस रीति से नहीं होता जैसे लोग मानते तुम ये चीज चढ़ा दो ये बेड़ा पार ऐसा कर दो तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा ऐसा कर दो आने वाली आपत्तियां दूर हो जाएंगी परंतु दुख का नाश ऐसे नहीं होता कृष्ण ने कहा परिश्रम करो अज्ञान का नाश करो अज्ञान का नाश करने में जो जो हमको पुरुषार्थ करना चाहिए वो करना ही पड़ेगा अज्ञान का नाश करो फिर अधर्म का अन्याय का नाश करो ये व्यक्ति समर्थ है और प्रयास से अपने अन्याय का नाश कर सकता है पर अपने अन्याय को ये सुरक्षित रखना चाहता है की बात छोड़ो जो झूठा व्यवहार है विपरीत आचरण है पक्षपात पूर्ण जो आचरण है ये सब अन्याय असत्य है इसको व्यक्ति अपनी शक्ति से सुरक्षित रखने की कोशिश करता है इसलिए नाश नहीं कर सकता अपनी अविद्या को व्यक्ति सुरक्षित रखना चाहता है इसलिए अविद्या का नाश नहीं कर सकता एक दृष्टांत देता हूं मैं आपको आप अपने अभिमान का नाश करना चाहते हैं या अभिमान की रक्षा करना चाहते हैं ध्यान देना सिद्धांत रूप में आप यही कहेंगे हम अपने अभिमान का नाश करना चाहते हैं अंत हृदय से पूछो आप प्राय कभी कभी ऐसी शुभ भावना पैदा हो जाए आप ये कहें मैं अपने अभिमान को ठोकर मारता हूं अन्यथा आपका अंतकरण ये कहेगा कि मेरे अभिमान को भी चोटने लग जाए उसकी सुरक्षा कर समझ रहे जो व्यक्ति अपनी अविद्या से अपने अन्याय से अपने मिथ्याभिमान से अपने विपरीत आचरण से प्यार करता है प्रेम करता है वो व्यक्ति कभी भी शुद्ध पवित्र होकर के अपने सुखों का नाश नहीं कर सकता एक एक पंक्ति ध्यान से सुन लो जो व्यक्ति अपनी अविद्या से प्यार करता जो व्यक्ति अपने मिथ्या आचरण अधर्म आचरण अन्याय से प्यार करता समझ गए प्यार करता तो समझ में आ गया ना या नहीं आया थोड़ा सा बीच में दृष्टांत देना पड़ेगा बुद्धि काम करेगी आप सरहोद करते हो घर में पति पत्नी झगड़ लेते हैं एक दो बार जन्म हाँ, झगड़ते या नहीं झगड़ते जी और आपको बताया गया है झगड़ना अच्छा नहीं क्रोध बुद्धि नाशक है बन नाशक है भूख नाशक है सारा बताया और वो जो क्रोध आता है तो उसको कहा जाता है क्रोध मत किया करो ये अच्छी चीज नहीं है देखिए जी जहां दो पात्र होते हैं वहां आपस में टकराव हो ही जाता ज्यादा देखो कैसा बचाव एक व्यक्ति के एक ने पूछा क्या झूठ तो नहीं बोलते कहते झूठ कौन नहीं बोलता <laughs> ये एक शैली बनाई हम देने लगे उपदेश गृहस्थियों के गृहस्थी हमको उपदेश देना शुरू परंतु <laughs> और अंत में कहेंगे महाराज जी कभी आपने गृह में आके तो देखा नहीं आगे देखो पता चले मैंने कहा आप तो गोदे लगा रहे हो दुख सागर में मैं गोदे लगाऊंगा जब पता चलेगा <laughs> बिना ही डूबे मैं डूब रहे होंगे देख लो तो मैं क्यों जाऊं <laughs> इतना बोला वाला मैं नहीं हूं अब बात याद करो अपने अज्ञान की आप रक्षा करते हो बचाना चाहते हो अपने अन्याय की धर्म की रक्षा करते हो बचाना चाहते हो अपने सुख की रक्षा करते हो बचाना चाहते हो तो आप दुख का नाश नहीं कर सकते हो और दुख की भी रक्षा करते हो आप कैसे करते हो एक माँ को चिंता लगी एक पिता को लगी देखिए जी मुझे ये कह दिया उसने वो कह दिया देखिए खाम खा दोष तो लगा रहे उसने कहा ये झूठ बोलता उसने कहा ये चोरी करता उसने कहा ये झगड़ालू है देखिए रोज ही मुझे कहते रहते मुझे बड़ा दुख होता तो वो कहते भाई इनको कहने दो ये कहेंगे तो भगवान को भी कहते नहीं मैं मैं ऐसे आपकी बात सुनने वाला नहीं ये क्यों कहते बस ये अपने दुख को बढ़ाया नहीं आई बात वो ऐसे ही सोचता रहेगा और उसका दुख बढ़ता रहेगा दुख को बढ़ाने की बात याद नहीं आती होगी दुख को कौन बढ़ाता है वही दुख को बढ़ाने का ढंग सुन लो समझ लो किसी कहा भाई शांति से रहो या कमरे में भीड़ है तो थोड़ा सा कम जगह ले लो उसने कहा खेचाताड़ी करो मेरे झगड़ा हो जाएगा उपासना नहीं कर पाओगे क्योंकि आपस में तनाव हो जाए तो वो कहेगा ये क्यों आया यहां ये क्यों आया भाई शांति से रहो भीड़ में काम ले लो उसने क्या किया इतना समझाने पर भी फिर अपना बस्तर अच्छी जगह कर लिया उसी बस्तर का यहां अंधेरा हो और वो वो आए वाला देखा कि किसी ने आए वो वो वहां से गर्म हो गया अब दुख बढ़ाया नहीं बढ़ाया पर भले ही इन्होंने बाहर सोना पड़ जाता भाई बिल्कुल ठीक है आप आनंद से रहो मैं तो बाहर सोऊंगा वो दुख नहीं नहीं बढ़ता तो भाई ये बात मैंने बतलाई कि जीवात्मा जो है दुख का नाशक है यदि परमात्मा की आज्ञा पालन करता है और वैसा करता है तो परमात्मा उसको वसु धन सब प्रकार का धन विद्या धन और धन देता है अब बुझाई पर विराम